इस तन पे रमा करना इस मन में रमा करना इस तन में रमा करना इस मन में रमा करना बैकुंठ तो यही है बैकुंठ तो यही है इसमें ही बसा करना इस तन पे रमा करना इस मन में रमा करना हम मोर बन के मोहन हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में तुम श्याम घटा बन कर उस बन में उठा कर नाम इस बर्तन में रमा कर नाम इस मन में रमा कर नाम कुंठ तो यही है इसमें ही बसा कर नाम बन बन के हम पपी है बन बन के हम पपी है पे पे रटा करेंगे तुम स्वाति बुंद बन कर प्यासों पे दया करना तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासो पे दया करना इस तन में माँ करना इस मन में माँ करना वैकुंठ तो यही है इसमें ही बसा करना हम राध श्याम जग में तुमको ही निहार करेंगे तुम दिव्य ज्योति बनकर नयनों में रमा करना तुम दिव्य ज्योति बनकर नयनों में रमा करना इस तन पे रमा करना इस मन में रमा करना वैकुंठ तो यही है इसमें ही बसा करना वैकुंठ तो यही है इसमें ही रमा करना इसमें ही बसा करना इसमें ही बसा करना राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संघार लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार मेघनाथ बोला करे सोचन लंकारा धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय मैं वह हूँ नाग पाश द्वारा जकड़ा था जिसने कपिगण को बच गए नहीं कल के सम कल ही समाप्त कर देता राम लक्ष्मण को मैं वह हूँ नागपाश द्वारा जकड़ा था जिसने कपिवर को बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राम लक्ष्मण को चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे जब तक न विजय पा कर आऊ तब तक जलपान हराम मुझे यह कह कर जो हे चला रण मद तभी दसानंद ने कहा ठहरो न हो अधीर हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तब से बच्चों के आगे तो और शक्तियाँ ठहरेंगी कब तब से बच्चों के आगे इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो रणवीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो पितृभक्ति ने मान ले वृद्ध पिता की बात विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात भूतल पर आया हल चला तारा मंडल तिल मिला उठा अति प्रबल ताम से यज्ञ देख सात्विकी जगत कम कपा उठा अति प्रबल ताम से यज्ञ देख सात के जगत कप कपा उठा धन तो थी वेद मंत्र ही के पर वैदिक धर्म मिटाने को पूजा थे महाशक्ति ही के पर जग का नाश कराने को जो ही फैला धुआं वह नभ के ऊपर घोर कहने लगे खरार तब देख विभीषण और यह कैसे बादल छाए हैं कैसे आंधी सी आई है उस मायावी दस कंधर ने क्या माया नहीं रचाई है सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा कहा विभीषण भक्त ने हे जग के प्रतिपाल माया भी कोई नहीं और न कोई चाल जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है उस विजय यज्ञ में मेघनाद इस बेला पूर्ण दत्तचित है यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार बोले हारे हृदय के सभी जगह है हार जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवे और देवता को कायर की भांति मनाता है पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है देवी तो उसके रक्षक है जो युद्ध धर्म का करता है पवन तनय की युक्ति से मुस्कुराए रघुराय आज्ञा लेकर उसी क्षण चला किस समुदाय जो दक्ष यज्ञ में पहुँचे थे उद्दंड वीर गण शंकर के क्यों ही असुर यज्ञ में जाधम के दुर्दंड चंड कपि रघुबर के क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने उस विजय यज्ञ की वेदी पर रण यज्ञ रचा रणवीरों ने चंडे के प्रतिमा के आगे रणचंडी का आह्वान हुआ भर गया रक्त से हवन कुंड ऐसा भीषण बलिदान हुआ मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है या वैदेही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है स्वाहा धन से जब भिड़ाम हाहाकार कराल मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल कितनों को उठने उठते ही दांतों से दबा चबा डाला कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में वही मिला डाला चटपट चुटकी में चुटकी ने कपिकटक जर्जरित कर डाला मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला बचा खुचा अब कौश दत्त बचा खुचा अब कीस दत्त कर चिल्लाहट घोर भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ बोले रण आज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिदारेगा उसका सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका बोलेगा छल के छाते पर कब तक न सत्यता का डंका लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका प्रभु बोले आज्ञा मिले जाओ लड़ने भात प्रभु बोले आज्ञा मिले जाओ लड़ने भ्रात लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात